क्या आ गया दस आ गया इकहत्तर कारिका वो कारिका देख लो तुम्हारा देव दोनों के मोटाई कितनी है अब ऊपर फिर गिन लो पृष्ठ संख्या गिनो कितना हो गया तुम्हारी पुस्तक के अनुसार हो गया और आगे कितना बचा है तो बहुत है ये नहीं नहीं कह रहा है व्याख्या नहीं है ना पूरा पुस्तक वो ये पूरा है यही तुम्हारा इससे मिलेगा इस अल्लाह का चांस देखना खतरनाक है हाँ ठीक है तो हम देख लेंगे तुम्हारा खतरनाक क्या है तुम देख के आना तदेव प्रधान साधन अनुगुणम मैंने प्रधान का साधक कौन था कार्य था कि किस्मत से दिवतमा शौक क्षम्या है उसने कहा था सूक्ष्म होने से अनुपलब्धि नहीं होती कार्य तदुपलब्धे वही इसी कार्यतस तो असद कारण नहीं हो सकता ये उसी पर जब कार्य उपलब्धे कहा कार्य के द्वारा कारण की उपलब्धि होती है लोग कारण और कार्य को अलग मानते हैं हाँ माने कारण से कारण अलग चीज है और कार्य अलग अलग है वो असद है वो सद है तंतु का संयोग है वह बट का कारण आई है सभी लोग कहेंगे वही क्या कहेंगे तो मतलब कहे कारण तो है संयोग भी तो कारण होगा ही बिना कारण के कैसे हो जाएगा अतः तदेव प्रधान साधन अनुगुणम माने जो प्रधान का जो साधन था कौन था अनुगुणम अनुकूलम किम सत्कार्यम उपपाद्य माने विवेचन कृत्वा मैंने सत्कारवाद का उपादन कर दिया क्या कर दिया मैंने अभी तक जितना पूर्व का उत्तर कारिका के साथ अनुसरण कर रही तदेव इस प्रकार से जो हमने क्या किया कि सत्कारवाद के द्वारा प्रधान का उत्पादन किया सत्कारवाद का उत्पादन कर दिया याद रसम तत्प्रधानम इधानी प्रधान कैसा है कार्य का साधन कर दिया और कार्य के द्वारा किसी कल्पना करनी है प्रधान की तो प्रधान और अप और व्यक्त और अव्यक्त में क्या भेद है वह कहने जा रहा है तादृशम प्रधानम साधनीयम माने जो कार्य का उपादान कारण प्रधान है उस प्रधान की सिद्धि करनी चाहिए साधनीय माने सिद्धि कर्तव्या सिद्धि करना चाहिए तादृशम सही तुम मन प्रकाश ही तुम दिखाने के लिए सही तुम मन कथई तुम भी कह दो प्रकाशयी तुम दिखाने के लिए क्या लिख रहे हैं और किस लिए उपयोगी व्यक्ता व्यक्त ज्ञानात विवेक विज्ञान का उपयोगी है क्या उपयोगी व्यक्त का विज्ञान उपयोगी है अव्यक्त का विज्ञान उपयोगी और ज्ञान है पुरुष का इसलिए सर्वप्रथम कहने जा रहे हैं विवेक ज्ञानोपयोगिनी ये कवचन का रूप है उपयोगिनी द्विवचन का नपुंसक लिंग में सारूप वैरूप्य अन्वय करना है मैंने प्रधान के साधन के सिद्धि के लिए विवेक ज्ञान उपयोगी जो सारूप और वैरूप्य तावद आह उन्हीं सारूप और वैरूप्य को बताना जा रहे हैं कि क्या प्रधान और व्यक्त में क्या समानता है क्या असमानता है वही कहने जा रहे हैं सारूप्य मन समानता वही रूप मन असमानता तावद आहा ही तुमद अनित्यमव्यापी सक्रियम अनेकाश्रितम लिंगम सवयवम परतंत्र व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम सबसे पहला कहने जा रहा है कि पहले व्यक्त के बारे में बता देंगे क्योंकि अभाव ज्ञान प्रति प्रतियोगी ज्ञान न व्यक्तम अव्यक्तम वित्पत्ति होगी तो इसका मतलब है कि व्यक्त का अभाव अव्यक्त है तो व्यक्त का ज्ञान होना चाहिए तो सर्वप्रथम व्यक्त का कहने एक बात और व्यक्त अत्यंत स्थूल है चक्षुरार इंद्री ग्राह्य भी है तो प्रथमोपस्थित स्थूल होने से पहले किसके निरूपण करना आवश्यक व्यक्त का और उससे जब व्यक्त का ज्ञान हो जाएगा तो अव्यक्त का ज्ञान हो जाएगा तो पहला एक विशेषण दे रहे हैं व्यक्त क्या चीज है हेतु मद हेतु अस हेतु मद कौन प्रत्यय हुआ मतु हम्म। प्रत्यय माने कारणवान माने सादी उत्पत्ति मत जो हेतु मत होता है वो क्या होता है बताएंगे उत्पत्ति मत होता है तो पहला क्या हुआ हेतु मद है माने इसका कोई न कोई कारण है कारण वाला है और कैसा है अनित्यम ये चीज है अनित्य है सदा इस रूप में संसार नहीं रही अनित्य है हाँ मैंने तद रूप में अनित का मतलब ये कि है ही नहीं है कारण में तो कार रहता ही है अनित का मतलब हुआ कि इस रूप में नहीं रहता हमेशा इसलिए वो क्या है व्यक्त अनित्य भी है और व्यक्त व्यापक हो सकता है कि अब व्यापक होगा कारण व्यापक होगा तो कार्य व्यापक होता है कारण व्यापक होता है इसका मतलब है जब अव्यक्त कारण है तो व्यक्त हमेशा व्याप्य ही होगा जैसे बन्नी का कार्य कौन है धूम तो व्याप्य की व्यापक है हाँ उसी प्रकार व्याप्य माने व्यापक अव्याप्ति माने व्यापक ना होना व्यापी माने व्यापक अव्यापी माने व्यापक ना होना न्यून देश वृत्ति अल्पकालीन है ये तीसरा विशेषण क्या है अनित्यम सबका अपने लिखेंगे भी व्यक्तम की हेतु हेतुमत दूसरा क्या है अनित्य है अव्यापी है और सक्रियम क्रियावान है और एक नहीं है अनेक है और आश्रित किसी के अधीन है और कोई लीनम अर्थम गम यदि कोई न कोई इसका बोधक होता है इसलिए लिंग सालिंग है मान सानुमानक है और कैसा सावय यू मिश्रणा मिश्रण यो हो यू तो सावयव ने मिला हुआ मिश्रित है यू मिश्रणा मिश्रण धातु है ना तो सावयवम और कैसा है परतंत्र है कारण के अधीन स्वतंत्र नहीं है ये क्या चीज है व्यक्त है और इससे विपरीत क्या है अव्यक्त है मैंने अव्यक्त हित मत नहीं है अव्यक्त अनित्य नहीं है अव्यापी नहीं है सक्रिय नहीं है अनेक आश्रित नहीं है आश्रित भी नहीं है लिंग भी नहीं है सावय भी नहीं है परतंत्र भी नहीं है वही कहना चाह रहा है कैसे तो मैंने सब व्याख्या करने जा रहे हैं व्यक्तम पहले ला दीजिए व्यक्तम किधरे के हेतु मत जो प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त जो व्यक्त है वो क्या चीज है तो उन्होंने कहा हे तुम मत व्यक्त हुआ लक्ष्य और लक्षण कौन हो गए सात कितने हैं हे तुमत एक अनित्य दो अव्यापी तीन सक्रिय तीन अनेका चार आशितम पांच लिंगम और सावय ऐसा करके कितने होने जा रहे हैं सात दिया सप्त प्रदान संति ये क्या है सब हमारी क्या है इस हमारे लक्षण है किसका लक्षण है व्यक्त का व्यक्त का माने व्यक्तम हेतुमत व्यक्त क्या है हेतुमान है पृथ्वी कीदृक गंधवती पुनः पृथ्वी कीदृक सप्त रूपवती पुनश्च पृथ्वी कीदृक गुरुत्वावती रूपाश्रय सती नील रूपा सरते सती गुरुत्वती तो जल में हट जाएगा आज सब पृथ्वी के ही साधक हैं सब ये जहाँ सब तो रूप का होता है पृथ्वी का लक्षण है हाँ गुरुत्व तो चलने भी रहता है इसे तो कह दिया हम कृष्ण रूप आश्रय से तुम तो कहले लगा दिए लक्षण में कितने कितना कृष्ण रूप आश्रय से तो गुरुत्व कह दिया हमने तुरंत बोल दिया नहीं कृष्णत्व नास्ती इसे तो कह दिया कृष्ण रूपवत्व से तो गुरुत्वत जहाँ वो कौन होगा तो वही तो हम पहले तुरंत संशोधन कर दिए थे दूसरे क्षण में ही उसमें ही नहीं हुआ ना हेतु मद हेतु हो कारणम हेतु मद माने कारण वाला है यस्य जो हेतु हो तद उपरिष्टात प्रगतेर महासतो अहंकारा तस्मात गणस्य षोडश कहा इस कारिका में बताएंगे कि इसमें हेतु कौन है प्रकृति ही तो प्रकृतेर महान आ गया ना इसलिए कहना चाह रहे हैं माने यश जो हेतु मान जिसका जो हेतु है प्रकृति किसका हेतु महान का महान किसका हेतु अहंकार का अहंकार किसका सोरस का ये हो गया हेतु मान जिसका जो कारण होगा तदुपरिष्टात अभी बाईसवीं नंबर जो कार्य का उसमें हम बताएंगे चल करके अनित्य का मतलब होता है विनाशी तो कह रहे कह रहे राम राम आपके यहाँ विनाश तो होगा नहीं ध्वंस तो मानते नहीं हो तो क्या विनाशी का मतलब है तिरोभाव हिनाश मतलब छुप जाना जैसे कछुआ का अंग छिप जाता था वही तो तिरो भाव है वही तिरो भवती आवत मैंने छिप जाना तिरो वही अपने कारण में ना सूक्ष्मतया तिरो भाव छिप जाना मैंने नष्ट नहीं होता है अव्यापी सर्वम परिणामीनम न व्यापनोती ये बताए जितने परिणामी है उनको यह व्यक्त व्याप्त करता है कि अव्यक्त व्याप्त करता है सबको पकड़ के रखता है व्यक्त है कि व्यक्त व्यक्त व्यक्त में अरे भाई आ गए इंद्री किसको रखेगी इंद्री को उत्पन्न नहीं होता है इसलिए सब क्या क्योंकि प्रकृति ऐसी चीज सबको समेट के रखी है अहंकार आगे वाले को समेटेगा अपने पीछे वाले को नहीं समेट पाएगा इसलिए अब व्यापी ये सब है केवल व्यापी कौन है प्रकृति ही है इसलिए प्रकृति व्यापी उसे लिखने जा रहा है व्यापी कार्य किया अब व्यापी मान सर्वम परिणामीनम न होती जो संपूर्ण परिणामी को माने आविष्टम व्याप्तम आविष्ट कौन धातु है व्याप्त में कौन धातु रहती है बताओ आप व्याप्त तो यहाँ वित्पत्ति उन्होंने कहे आविष्टम व्याप्तम इति व्याप्तम वही कहने जा अव्यापित्व मान जो आविष्ट घुस करके जो व्याप्त करे विविशंती व्यापनवंती स्व स्व कार्यम महादाधिकम मैंने अपने अपने कार्य को जो व्याप्त कर लेते हैं वो है सब व्यापी तो व्यापी कौन हो सकता है केवल प्रकृति ही हो सकती है आगे वाले अपेक्षाकृत व्यापी होंगे केवल एक ही व्यापी है अतः अव्यापी का मतलब हुआ अव्यापकम असर्वगतम जो सर्वगत नहीं है वो हुआ अव्यापी प्रकृति क्या है सर्व कारणों कार्य में पुरोहित है इसलिए वह सर्वगत है सर्वतम सर्व कारण में अनुस्यूत है अव्यापी सर्वम परिणाम व्याप कारणेन ही कार्यम आविष्टम मान कार्य से आविष्ट माने व्याप्तम मान कारण से कार्य आविष्ट माने व्याप्त ही रहता है न कार्यण कारणम कार्य से कारण व्याप्त नहीं होता है क्योंकि कार्य की तुरहित होने पर भी कारण रहता है इसलिए कौन किसको व्याप्त किया कारण ने कार्य और कारण कार्य ने कारण को व्याप्त नहीं किया जैसे धूम की बन्नी की व्याप्ति है पर धूम की व्याप्ति है वही बात है उल्टा नहीं करना कार्यण कारण न तो बुद्धियादय प्रधानम विवसंती कारण कौन है हमारे कार्य कौन है बुद्धि बुद्धिमान माने महातत्व बुद्धि अहंकार सब कार्य हैं इन बुद्धादया प्रधानम न विवसंती जो बुद्धि आदि हैं वह प्रधान को व्याप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए सब क्या हो गए प्रधान हो गया अव्यापी ये सब हो गए और प्रधान हो गया व्यापी एक अन्य कर दिया अतः अभिषेक अव्यापक बुद्धियादया जो बुद्धियादी पदार्थ सब क्या है अव्यापी माने माने अव्यापक है व्यापी माने व्यापक अव्यापी माने अव्यापक हैं सक्रियाओं का अरे भाई चल अवध वृत्तम प्रकृति जो साम्यावस्था का नाम है उसमें कोई ना कोई तो क्रिया रहती है हमेशा चलती रहती प्रकृति रहती है शून्य तो का एक क्रिया से लेना इस पर स्पंदन शून्य कौन सा है सक्रिय तो है परंतु परस्पंदनात्मक क्रिया नहीं है मैंने जाकर कहीं देशांतर मिल जाए वाली क्रिया नहीं है वही जा किसी ने कहा कि भाई क्रिया तो उसमें रहती है आपने कहा क्योंकि प्रधान ना क्रिया करे कुछ काम ही नहीं कर सकता है तो आपने कहा क्रिया रहित है उसका सक्रियम मने परस्पंदवत वह परस्पंदवत नहीं है इतना ही अंतर दोनों में वही कहने जा रहे हैं परिस्पंद प्रवेश निरसनादि रूप क्रिया परस्पंद क्या है घुसना और निकलना माने आविर्भाव होना तेरो भाव प्रकृति का ऐसा होता है प्रकृति का आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता है क्योंकि यदि कोई कारण होता तो उससे आविर्भाव होता उसमें लीन होती तो तिरुभाव होता इसलिए ये कैसी है माने क्रिया से क्या लेना यहाँ पर आविर्भाव तिरुभाव रूपात्मक जो क्रिया क्रिया उसमें है और ये क्रिया नहीं है कौन सी क्रिया नहीं है हाँ माने वो तो चलना रूप तो क्रिया उसमें भी है गुणवद्ध अवृत्तम चलम स्वभाव तो गुण का क्या है चलम वृत्तम उनका स्वभाव हमेशा चलते ही रहते हैं चलवत वृत्तम गुणम चलवान ही गुण रहते हैं स्वभाव उनका इसीलिए उनका कहना पड़ा सक्रियम मैंने परस्पंदवत मैंने परस्पंदन क्रिया है परस्पंदन क्या है प्रवेश निरसनादि रूपा या क्रिया तदवत है सूर्य कौन है तथा बुद्धियाद है बुद्धियादि में ये सब होता है उपातम उपातम देहम तजंती इस देह को छोड़कर दूसरे देह में घुसते हैं उसको छोड़कर उसमें घुसते नहीं ये कह रहा है गृहितम ग्रहणम गृहित गृहित तो ये उपातम उपातम देहम तजंती क्या प्रयोग किया मैंने गृहितम गृहितम तजंती मैंने इसको ग्रहण करके फिर छोड़ते फिर दूसरे करते हैं नहीं करते हैं हाँ वही कहने जा रहा है मैंने इसे उपातम उपातम देहम त्यजंती मन उपादते ग्रहणती माने उपादान करते हुए क्या कर ले रहे हैं ग्रहण कर माने इसके संस्कार को लेकर आगे वाले में चले जा रहे उपातम उपातम किम कर मन उपातम मन में ग्रहण त्यजंती देहांतरम चा उपादत्य अर्थ कह दिया माने यही परिस्पंदन है कि इस देह को छोड़ना माने तिरोभाव हो जाना पुनः देहांतर में आविर्भाव हो जाना ये दोनों काम करते कौन बुद्धि आदि अंताकरण वही कहने उपातम उपातम देहम तजंती देहांतरं चा उपादत्ते इति तेसाम यही परिस्पंद है किनका परिस्पंद है बुद्धियादि का कोई भ्रम खा जाएगा कि बुद्धियादि कहाँ घुसती निकलते हैं इसलिए उसका विवरण किया कि उपातम उपातम देहम तजंती देहांतरं चा उपादत्ते कर्तिवाचक उपादते ददते ददते तो उपादते ठीक है बहु हैं कैसे होगा बताओ ददते धातु को ना ठीक है उपा द धातु से तो क्या बनता है दत्ते ददाते ददते धन्यवाद तुमको चलो उपादते हाँ और यदि दस धातु से बने तो क्या बनेगा ये दो दस धातु से एक दस धातु आदादिगण में ददते ददाते ददंते और एक है जो तुम बना रहे हैं वो द, दो खंडने वाले वो दो, वही जो वही वही वाले उसका वाला हीरो ठीक है उपाद ददते तेसाम परस्पंदा शरीर पृथ्व्यादीना च परस्पंदा प्रसिद्ध इसमें क्या है हम लोग हिलते डुलते ही हैं पृथ्वी हिलती डुलती है कि नहीं हिलती डुलती है ये तो कहा संसार में प्रसिद्ध ही है हलना डुलना पर स्पंदन क्रिया पृथ्वी और शरीर में तो लोग प्रसिद्ध ही है बुद्ध आदि में नहीं समझ में आ रही थी तो हमने बता दिया कि नेचते हैं भाव होता आविर्भाव होता है देहांतर को छोड़ छोड़ कर देहांतर में जाते हैं इसलिए इनमें परिस्पंद है सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं जिसे पांच ज्ञान इंद्री पांच कर्म इंद्री मन बुद्धि चित ये सूक्ष्म शरीर है ना तो ये आता जाता है कैसे पता चलेगा तो इस शरीर को छोड़कर उस शरीर में जाता है इसलिए इसमें परिस्पंद है और इसको स्थूल को सभी देख रहा डुल रहा हिल रहा इसमें क्या चिंता है वही कह रहे इनका तो शरीर पृथ्वी आदि चु परिस्पंद प्रसिद्धा एव तत्र चिंता न कर्तव्य अनेकम प्रति पुरुषम हर एक तुम्हारी बुद्धि रामकृष्ण भिन्न है पौडेल जी की भिन्न है महाराज जी की भिन्न है उनका भिन्न है हमारा भिन्न है तो वो भी तो वही कहने जा रहे हैं बुद्धादि सभी मानते हैं अंतर वेदांति नहीं मानते का अलग अलग अंताकरण सबका अलग अलग अंताकरण हमारा अलग इनका अलग है तब वही कहने जा रहे हैं इसलिए अनेक है बुद्धियादि अनेक क्यों अनेक है प्रति पुरुष भेदात बुद्धियादि नाम अनेकम हेतु दे रहा है अनेकम का अर्थ किया प्रति पुरुषम अनेक शब्द का अर्थ क्या किया प्रति पुरुषम हर एक पुरुष के लिए बुद्धियादि नाम भेदात क्योंकि इनके यहाँ अनेक जीव आदि हैं बुद्धि आदि हर एक पुरुष के लिए भिन्न भिन्न इसलिए वो अनेक हो गए बुद्धि आदि पृथिव्याद्यपि शरीर घटादि भेदे न साफ साफ पृथ्वी में शरीर है इंद्रिय है घट है पट है अनेक की एक है अनेक है अनेक है दोनों वही अर्थ करने जा रहे हाँ सजातीय भेदवत अनेक हम्म। सजातीय भेदवत अनेक मतलब सजाती भेद अनेक विजाति तो विजाति तो उसमें कौन था एक पुरुष था एक प्रधान था अपने था तो यहाँ लेना है अनेक माने सजाती इसकी अनेक है सजातीय सजातीय भेद का हम्म। अन्योन्या भाव समानाधिकरण तत्व विभाजक उपाधि तत्व विभाजक उपाधि बताओ इसे हमारा एक बता रहे शब्द पदार्थ इनमें बी पूर्व रहते धातु का अर्थ क्या है बोलो उसी घटा तुरंत घट जाएगा बुद्धि से भिन्न कौन है अहंकार अहंकार से भिन्न तन माता एक रहना परस्पर जो अन्योन्या भाव हो क्या होना चाहिए मैंने बुद्धि से भिन्न अहंकार अहंकार से भिन्न बुद्धि इसमें आप क्या लग विपूर्वी धातु का क्या है पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य विथो वरुद्ध धर्म प्रकार ज्ञानानुकूल व्यापारा माने द्रव्यम गुणा कर्म ये विरुद्ध क्या विरुद्ध है वो यहाँ घटाओ तुमको तो इच्छा बोल रहा हूँ क्या जा रहा है बोलो ये उसको देख के आओ घटाना फिर घटवा देते हैं नहीं तो वही बस इसी तो कह रहे हैं एक तैयारी करोगे दूसरा आ जाएगा हम्म। शरीरम हाँ हो गया अब अनेकम अने प्रति पुरुषम पुरुषम प्रतीति प्रति पुरुषम माने बुद्धियादि ना भिन्नवात अनेक यही का देखो लिखा जो तुमको लिखा ना यही लक्षण दिया है हाँ, हाँ, ये उतारा है स्वाश्रय प्रतियोगिक अन्योन्या भाव समानाधिकरण उपाधि मत्वाम यही दिया है इसने दे दिया अल्लाह अच्छा। न महत्वादि तदाश्रया महादादि तद प्रतियोगी यश याद सो भेदा तब घटाया भी इसमें तुम्हारे में घटाया है <laughs> टिप्पणी में घटाया भी जो हम कह रहे थे वही घटाया यहाँ पर उसी प्रकार का पूरा घटाया है चलिए आया अनेकम प्रतिपुरुषम बुद्धियादी नाम भेदाद पृथिव्यादि शरीर भेदाद घटादि नाम अनेकम साफ साफ हो गया ना आश्रितम अनेक अलग था अब आश्रितम आश्रित शब्द का अर्थ कहने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं स्व कारण आश्रितम किसके आश्रित हैं तो अपने कारण के आश्रित हैं मिट्टी के घर किसकी आश्रित है मिट्टी किसकी आश्रित है चले अपने उसके अवयव में फिर अवयव में चलते चलिए इसीलिए कह रहे हैं आश्रितम माने कारण आश्रितम हाँ माने अपने कारण में बुद्धि किसमें आश्रित है प्रकृति में अहंकार किसमें आश्रित है बुद्धि में और अहंकार के आश्रित कौन है तन मात्राएं तन मात्राएं कौन आश्रित है पंचभूत याद रखो हिंदी तो अहंकार में आश्रित है अहंकार से तो पैदा हुआ ना यहाँ तो आश्रितम स्वकारण आश्रितम बुद्ध्यादि कार्याणाम अभेदेपी कथनचित भेद आपका भैया ल झगड़ा आ गया कारण भेद कैसे आश्रय भाव बनेगा जब कारण और कार्य एक ही इनके यहाँ भेद है तो भेद में आश्रय भाव होता है ये इसके यहाँ दिन है ऐसे बैठा है इसमें आश्रय आश्रय भाव है और वो तो बुद्धि और प्रकृति में कोई भेद है नहीं आपके यहाँ इस चौकी में पुस्तक में कोई है है ना लोग मुझे देखा जाता है आश्रय आश्रय भाव तो है मतलब मिट्टी और खट में कोई इसलिए आश्रय आश्रय कैसे तो वही कहने जा रहा है तुरंत पकड़ा कि कोई रामकृष्ण की तरह बोलेगा तो नाम अभेद होने पर भी क्वचित भेद विवक्षया माने वक्तुम इसी से हमारे लोग कहते हैं पड़े वृद्धि आदेश क्या है होना क्या आदयिता वृद्धि ष्ठी होना चाहिए कि प्रथमा होनी चाहिए होगा कहीं भक्ति हाँ। प्रथमा मतलब संज्ञा संज्ञन और अभेदा हाँ। तो कुचित भेदो ही भवती यथा यथा अनुदित हाँ। सवर्ण से चार प्रत्यय सवर्ण से किम नाम सवर्ण ऐसा सूत्र कौन संज्ञा कौन संज्ञी रुको तुम दोनों आदमी पूछते आज पकड़ा गए तो कुछ इस पर का संदेह हो गया इसको बोलो अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय कौन संज्ञा कौन संज्ञी है संज्ञा हाँ, तो सवर्ण का सवर्ण का क्या सवर्ण का सवर्ण का बोध कराता है अभिधीयमान जो अण और उदित जो बोध कराता है वो क्या होता है उसकी संज्ञा होता है जो बोध कराता है नहीं तो सवर्ण के बोधक होते हैं हाँ तो बोधक माने कौन होते हैं अनुदित होते हैं हाँ तो कौन संज्ञा हुई तो अनुदित तो, तो संज्ञा है ना नहीं संज्ञा कैसे अनुदित हुई देख लो इस शरीर का बोधक क्या है प्रवीण नाम हाँ, तो उस सवर्ण का बोधक कौन है अण हाँ। और उदित तो अणुदित तो हुआ मतलब अणुदित में सवर्ण रहता है तो गुरु जी सवर्ण होगा कि अणुदित सवर्ण से हुआ संगी और अणुदित हुआ संज्ञा इतने तुम बुढ़ा गए यहाँ पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ तुमने तुम्हारा तो पूरा नरक ही कर दिया आज और तुल्य आश्रम में उल्टा है तो- वैसे भ्रम खा जाते हैं लोग और यहाँ ऐसा नहीं है ये लिखा है सिया ये तो बता सकता है क्या कौन संज्ञा कौन संगी है संज्ञा हम्म। है चलिए अब तुमने तो हमारा सब धुल दिए आज धुल दिया पूरा हम धुल गए आश्रितम स्वकारणम आश्रितम बुद्धियादि कार्याण वही हमने इस इतने दृष्टान दिया जिसे कल्पित भेद मान लेना वही क्वचित भेद विवक्षया कहीं कहीं कल्पना मान करके क्या कर लेना है भेद विवक्षा कर लेनी है कारण जैसे मात अपने कारण प्रधान में आश्रित है प्रधान अपने कारण में आश्रित ऐसा क्रम चलेगा वही कह दिया तो यहाँ क्या विवक्षा के बस भेद विवक्षा इसे कर देना है वक्तुर इच्छा विवक्षाधीन है जैसे विंध्यम वर्धितम अनुदरा कन्या मतलब अनुदरा क्या होता है इस अर्थ में अल्प है उधर किस अर्थ में है बिंध्यम वर्धिताम बिंद पर्वत पड़ेगा क्या सतोपी भाषकार कहे सतोपी अविवक्षण अनुदरा कन्या दिया हाँ मैंने उन्होंने कहा सतोपी अविवक्षा विद्यमान वस्तु की अविवक्षा होती था अनुदरा कन्या और असतो भी विवक्षा बिंध्यम वर्धितम बिंद बढ़ गया बढ़ सकता है जड़ वस्तु असतोपी सतोपी उसी प्रकार यहाँ एकदम आश्रय भाव नहीं हो सकता है फिर भी विवक्षा कर दी इस स्थूल दृष्टि से क्या कर दी हाँ भेद को लेकर के थोड़ा भेद मान लिया कि कार्य और कर्म यदि किंचित भेद है उसको लेकर आश्रय आश्रयी भाव कर दिया इसलिए करने जा रहे हैं क्वचित भेद विवक्ष आश्रय आश्रय आश्रयी भाव यथा बने तिलका वन में कौन चीज रहता है तिलक माने वृक्ष जबकि वृक्ष से अतिरिक्त बन है इसे आप बताओ शाखायाम वृक्षा होता है वृक्षे शाखा क्या सही है वृक्षे शाखा सही है कि शाखायाम वृक्ष सही है नहीं वृक्ष यही सब दुनिया कहती है तुमको मालूम नहीं अवयव में अभी भी रहता है वृक्ष कहाँ रहेगा होना चाहिए शाखा से वृक्षा वृक्ष में ना शाखा रहती है हम्म, हम्म। अवयवी अवयव में रहता दुनिया जानती है कि तो तुम्हारा शरीर कहाँ रहता है हमको ऐसा कहना चाहिए कि अरे शरीर में नहीं है अवयव है वो उल्टा संसार में चलता है इसी के नाम संसार इसी के नाम संसार है हम लोग कहते हैं वृक्षे शाखा होना क्या चाहिए था शाखायाम वृक्षा अतः उल्टा हो गया आधार को आधे बना दिया गया हाँ, देखो आधार ये विवक्षा व्यवहार है क्या करो ऐसे व्यवहार है किसी का नाम संसार वही कहता है यहाँ इति बने तिलका इतुकतम बने पहले कह चुके हैं कि बन में जैसे तिलक जब तिलक और बन एक ही चीज है तिलक नाम मैंने वृक्ष का नाम है उनको हटा दिए तो कोई नाम बनना की वस्तु है फिर भी आधार आधे विवक्षा कर दिया लिंगम माने प्रधान से लिंगम किसके लिंग है प्रधान के अनुमापक है और प्रधान किसका लिंग है कि कोई है ही नहीं उसके आगे तो किसी का मापक नहीं है इसलिए उन्होंने कहा ये प्रधान का ये तो लिंग है प्रधान किसी का लिंग है वही कहना लिंगम प्रधान से लिंगयति गमयती लिंगम ज्ञापकम मैंने प्रधान का ये ज्ञापक है कैसे तो लिखने जा रहे था चैते बुद्धियादया प्रधान से लिंगम ये बुद्ध्याद जितने हैं प्रधान के भेदा नाम परिमाणात ये आगे वाली जो पंद्रहवीं कारिका है वहां बताएं उपरिष्टात मैंने पंद्रहवीं कारिका में आएगा प्रधान से लिंगज बुद्धियादि हैं आगे बताएंगे उपरिष्टात्मा मन पंद्रहवीं कारिका में बक्षति मन कहेंगे प्रधानम तो न प्रधान से लिंग मन प्रधान प्रधान का लिंग नहीं है पुरुष से लिंगम पुरुष का लिंग हो सकता है परंतु अपने का लिंग अपना नहीं हो सकता इसे लिख दिया प्रधान से प्रधानम न प्रधान से लिंगम पुरुष से लिंगम भवद्यपि पुरुष का लिंग होने पर भी प्रधान का प्रधान लिंग नहीं है एतावदा क्या हो गया अलिंग हो गया कौन अलिंग हो गया प्रधान अपने को नहीं बताता दूसरे का लिंग सा अवयवम सावयव शब्द का अवयवनम अवयवा कौन व्युत्पत्ति मिश्रण यु मिश्रणा मिश्रण यो धातु से बना लिट प्रत्यय होकर अवयवनम बनता है गुण होकर के अवयवनम अवयवा मिथा संसलेसा अवयव का अर्थ क्या किया चपकना परस्पर मिलना मिसाह संसलेसाह मिश्रणम मिश्रण माने संयोग तो सावयव यहाँ अवयव का अर्थ क्या है जुड़ना अर्थ क्या ना अर्थात अप्राप्त पूर्व का प्राप्ति संयोग संयोग लक्षण होता है अप्राप्त पूर्व की प्राप्ति संयोग तेन सह वर्तते सावयम मन अप्राप्ति रूप जो संयोग उस संयोग के साथ जो वर्तमान है उसका नाम क्या है यहाँ पर संयोग अर्थात ये कहना संयोग का एक अनुयोगी होता है एक प्रतियोगी होता है तो ये कहाँ रहेगा हमारा अवयव अब ये भी अवयव में रहेगा तो अवयव हो जाएगा अनुयोगी और अवयवी हो जाएगा प्रतियोगी वह प्रकृति किसी में रहता है तो किसी का प्रतियोगी हो सकता है हाँ इसलिए वहाँ ये कहना सवय माने प्रतियोगी शून्य ये कहना हो तो अनुयोगी तो में करेगा ये सब तो उसी में रहेंगे जाकर प्रधान में सवयम तथा ही पृथ्व्यादया परस्पर संयुजनते पृथ्वी जल तेज आपस में मिलते का नहीं मिलते हैं वही कहने पृथ्व्यादया संयुजनते एवं अन्य बुद्ध्यादयापी ननु न तो प्रधान से बुद्धियादि संयोग कौन सा संयोग प्रतियोगी रूप संयोग नहीं है प्रतियोगी रूप संयोग नहीं है मैंने प्रधान है बुद्धि के साथ है बुद्धि उसमें बैठी है तो जो बैठता वो क्या होता है और जहाँ बैठता अनियोगी है तो अनियोगी रूप तो संयोग है उसमें परंतु तो बुद्धि के ऊपर बैठती नहीं इसलिए प्रतियोगी रूप नहीं है जैसे यह संयोग से पुस्तक इसमें बैठ सकती है परंतु इस संयोग से ये इसमें नहीं बैठ सकता है ये वाला इसमें बैठेगा ये वाला इसमें बैठेगा अरे राम जो कह उतना पुस्तक का उत्तर दो पुस्तक इसमें संयोग संबंध से बैठी है कि या पर्यंग संयोग संबंध से पुस्तक में बैठा है ये ये मतलब हाँ अर्थात इसका मतलब है ये वाला संयोग का जो अनुयोगी हो सकता है परंतु या या, या पुस्तक इस संयोग का अनुयोगी नहीं हो सकता है प्रतियोगी ही रहेगा इसका अनुयोगी भी हो गया ऊपर वाले का इसका अनुयोगी भी हो गया इसका प्रतियोगी हो गया परंतु इसका ये कभी भी इसका प्रतियोगी नहीं हो पा रहा है उसी प्रकार हमारा जो प्रधान है प्रतियोगी नहीं होना है तात्पर्य संयोग मतलब संयोग का प्रतियोगी नहीं संयोग तो नहीं करेगा जुड़ेगा वह तो हाँ? प्रधान अलग चीज है पुरुष अलग चीज लगा प्रधान और पुरुष एक करने <laughs> पुरुष अलग है चेतन है प्रधान जड़ है हाँ? आकाश कहीं नहीं रहता आकाश में सब रहते आकाश में कोई नहीं रहता है शब्द रहता है लेकिन आकाश कहीं नहीं आकाश आवृत्ति पदार्थ है मैया एक क्या चलिए वही कहने जा रहा है नन प्रधान इसे काल में रहते हैं सब काल किसी में नहीं रहता ये कही है नुन प्रधान से बुद्ध्यादि संयोग तादात्म्योत क्योंकि तादात माने नित्य प्राप्ति इन दोनों की किनकी प्रकृति हमेशा का, अपने कार्य के साथ प्राप्त ही रही तो अप्राप्त प्राप्ति घटेगा उसमें नहीं वही कहने जा रहा है तादात्म्याद नित्य प्राप्त नापि सत्व रजतम शाम परस्पर संयोगा किसी ने कहा सत्व तम का परस्पर संयोग हो जाए कहे वो भी नहीं है क्यों अप्राप्त सदा रहते हैं साथ साथ सत्य तीनों साथ साथ रहते हैं तो अप्राप्त पूर्वी की प्राप्ति है कि प्राप्त से प्राप्ति है इसलिए वो संयोग कहलाएगा ने संयोग का लक्षण कह दिया अप्राप्त पूर्व का प्राप्ति संयोग इसलिए वो भी नहीं है परतंत्र है बुद्धि आदि परतंत्र है क्यों परतंत्र है बुद्ध स्वाकार स्वाकार्य जनयितव्यम यदि वह बुद्धि को किसको पैदा करना है अहंकार को तो अहंकार को कब पैदा करेगी जब अपने पीछे से प्रकृति को सहायता लेगी तब अहंकार पैदा करेगी इसे मान लीजिए है ये पीछे वाले किसी विद्यार्थी को लाएंगे तो पहले हमसे पूछेंगे तो परतंत्र हुए कि स्वतंत्र हुए मतलब हमारे पृष्ठाधीन हो गए उसी प्रकार बुद्धि अहंकार को पैदा करेगी तो प्रकृति को साथ अपने रखेगी तब करेगी तो किस किसकी परतंत्र होगा मतलब प्रकृति सापेक्ष अपने कार्य को करेगी स्वतंत्र कार्य करने नहीं सकती है वही घटा रहे हैं आप बुद्धि आदि ही परतंत्र क्यों बुद्धिया कार्य अहंकार बुद्धेर अहंकार प्रकृतेर महासतो अहंकार तस्माद गणश्च सोडस सका वही कहने बुद्धिया स्वकार्ये माने अहंकार जनई तब्य उत्पादई तब्य पैदा करने में प्रकृत्या अपेक्षते जो प्रकृति जो अपूर्व है उसकी क्या करते हैं अपेक्षते अपेक्षा करती है परंतु प्रकृति किसी की अपेक्षा इसलिए वह स्वतंत्र की परतंत्र प्रकृति हाँ अन्यथा क्षीणा सती ना आगे जाने बताया कि प्रकृति भी वो तो अलग चीज हुआ उनका संयोग परंतु वो परतंत्र बताएंगे वो तो आएंगे पंगवत उर्वय संयोगा संयोग है परंतु जैसे एक दूसरे के अधीन है ऐसा नहीं बताएंगे अभी वो अच्छा। स्वयं सूच विचार करेंगे वही कहने जा रहे हैं अब यहाँ कह दिया स्व स्व कार्य के या मान अपना अपना जो कार्य के प्रति अपने अपने कारण की इनको अपेक्षा है उस प्रकार से वह पुरुष की अपेक्षा है और पुरुष उसका कारण नहीं है इतना अंतर है पुरुष को चाह रही है इसे बुद्धि अपने कारण प्रकृति को चाह रही है परंतु प्रकृति अपने कारण को नहीं चाह रही है पुरुष को चाह रही है कोई दिक्कत नहीं है जैसे हम लोग पीछे कहे कि वह संयोग है पर कैसा संयोग नहीं है प्रतियोगी संयोग नहीं है प्रकृति लिंग है किसका लिंग है अपने का हाँ पुरुष का लिंग अपने का लिंग नहीं है उसी प्रकार प्रकृति प्रकृत्यंतरम न अपेक्षित यथावता स्वतंत्र है पुरुष को चाहे भी तब भी स्वतंत्र है ये कहा वही कहने जा रहे हैं अन्यथा वही कहने जा रहे हैं तो अन्यथा यदि यह न माना माने प्रकृति सहाय व्याप्या सतिद प्रकृति को सहायता न माना जाए तो छीना माने असमर्था माने क्षीण माने असमर्थ सती बुद्धि ना अलम अहंकारम जनई तुम मैंने जो बुद्धि है ये उसका बुद्धि का कारण उसके साथ ना रहे तो बुद्धि कुछ कर पाएगी क्षीण हो जाएगी नष्ट हो जाएगी बेचारी इसका मतलब बुद्धि अपने कार्य को कैदा करने के लिए अपने कारण को चाहती है अन्यथा अन्यथा मैंने यदि बुद्धि प्रकृति को ना चाहे बाधक दे रहे हैं तो अपने कार्य करने में बुद्धि समर्थ नहीं हो सकती क्योंकि वो क्षीण है उसकी सामर्थ्य तो उसका कारण था और कारण के बिना कार्य कर नहीं सकती है इसलिए क्षीणा सती न अलम अलम मैंने पर्याप्तम अहंकार जनई तुम स्थिति अहंकार के पैदा करने को पर्याप्त नहीं हो सकती है एवं उसी उल्टा अहंकार भी किसको चाहेगा प्रकृति को भी चाहेगा और बुद्धि को चाहेगा इसे चलता रहता है जैसे हम लोग कहते हैं ए तस्मात तस्मात आत्मना आकाशा संभूता आकाशात वायु तो उस आकाश में घुसेगा आकर माया फिर माया आकाश मिलकर वायु को पैदा करेंगे फिर वायु में आकाश माया दोनों घुसेंगे तो तेज को पैदा करेंगे ऐसा नहीं कि माया वहीं छूट गई पैदा करके चले गई ऐसा नहीं है वो अपने अपने कारण में घुसती जाती है अनुवृत्ति हो तो वही यहाँ करना है एवं अहंकाराद भी स्वकारजन ने अपने कार्य जन प्रकृति की अपेक्षा है सब अपने अपने कार्य को व्यक्त करने के सभी प्रकृति को चाहते हैं स्वकार्य जनने स्व स्वाकार जनने परतंत्र यदि सर्व स्वकार्य प्रकृत्यापूर्व अपूर्व अपेक्षित अपेक्षते प्रकृति को चाहते हैं तेन पराम प्रकृति कारणम अपनी स्वाकार जनने परतंत्र व्यक्तम मान जो परा प्रकृति है उसकी अपेक्षा करके ही कोई कारण कार्य को पैदा करता है ये संपूर्ण कारण क्या है परतंत्र है अब बताने थोड़ा ही तो है विपरीतम इसके विपरीत क्या है अव्यक्त है व्यक्त के विपरीत अव्यक्त है कैसे है अव्यक्त कटा रहा है क्यों व्यक्तात विपरीतम अव्यक्तम माने व्यक्त से भिन्न है अव्यक्त कैसे क्योंकि इसका क्वचित आविर्भाव न भवती व्यक्त का आविर्भाव प्रकृति से होता है और प्रकृति का आविर्भाव एतावदा हेतु हेतु क्या हेतुक हो गई वह अहेतु मत का वर्तते अव्यक्तम और अव्यक्त क्या है नित्य निरंतर सत्वी घटता मन तिरो भाव नहीं होता इसका नित्य क्यों है तिरो भाव नहीं होता अनित्य का मतलब तिरो भाव होना और इसका क्या हो रहा है था अनित्यम माने विनाशी विनाशी माने तेरो भावा प्रकृति का तेरह क्यों कोई कारण नहीं छिपे कहाँ जा करके इसलिए नित्य है अव्यापी है माने इसमें व्यापक है या व्यापी माने व्यापक है अव्यक्त कारण हमेशा व्याप होता और निष्क्रिय है माने परस्पंदन रूप क्रिया शून्य सजा और कैसा है तो बताएंगे एकम व अनेक या एक है माने एक कैसे सजाती भेद रहित है विजाति भेद तो है पुरुष तो है ही है सजाति भेद रहता है जैसे एकाकी है मारू बजम एका ना दुर्गा सरस्वती प्रथम अध्याय में कौन गया एकाकी जन रूय सूरथ गया ना वही वैश्य जो सूरत था गया दुखी होकर के जंगल में चले गए तो वहां सजाती नहीं है बिजाती बैठा है घोड़ा तो ये कागी कैसे रूप बनेगा तो उन्होंने कहा सजाती दुती नहीं रहना चाहिए बजे थे एकाकी उसी प्रकार यहाँ करा तदपि अव्यक्तम अस्ति परिणाम लक्षण यद्यपि परिणाम लक्षण क्रिया इसमें है इसमें प्रकृति में परंतु परस्पंद रूप क्रिया नहीं पर अंतर इतना ही है यद्यपि अव्यक्त से अस्थि परिणाम लक्षणा क्रिया तथा परस्पंदो नास्ति नास्ति एकम एक मतलब है सजाती भेद रहता है इसलिए यह एक है मैंने एक है अनाश्रितम किस किसी का अवयव नहीं है इसलिए यह क्या है अनाशित है कोई कोई सा कोई कारण नहीं है आश्रितम माने वृत्ति मद अनाशित माने अवृत्ति मद किसी में नहीं और अलिंगम अलिंग माने अपने का बोधक नहीं है अलिंगन कारण का ज्ञापक नहीं है अपने कारण का ये ज्ञापक नहीं है अनवय माने असंयोगी अवय माने संयोगी अनवय माने असंयोगी और स्वतंत्र अन्य किसी की अपेक्षा अपने सजाति के नहीं है परमात्मा को चाहे तो चाहे पुरुष को किसी की आवश्यकता नहीं है बस इस दस कारिका हो गई है